नमो भगवते वासुदेवाय अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्तिभिरुत्सिक्त भगवत्तेजसान्वितः वृतो गजेन्द्रो सर्वैः गजेन्द्रोपर्यशोभत मुनिगण त्रैलोक्यम त्रैलोक्यं निवा जब श्री दधीची मुनि ने अपना देह त्याग दिया तो उनके अस्थियों को लेकर देवगण विमान से स्वर्ग गए वहां पर विश्वकर्मा जी ने दधीची मुनि की अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जिसका नाम हुआ वज्र जितने भी अस्त्र हैं इस जगत में तो उनमें वज्र एक प्रधान अस्त्र है सुदर्शन चक्र तो तो भगवान का साक्षात स्वरूप है उससे तो किसी अस्त्र की कल्पना ही तुलना ही नहीं की जा सकती लेकिन इस प्राकृतिक जगत में वज्र को बहुत बड़ा माना गया भगवान कहते हैं कि आयुधा नाम हम वज्र दसवें अध्याय गीता में कहते हैं मैं आयुधों में शस्त्रों में वज्र हूं अपनी विभूति गिनाते समय कहा था तो वह वज्र दधीची मुनि की अस्थियों से बना बनाने वाले इस विश्व के सबसे बड़े कलाकार शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी हैं तो वैसे कलाकार की दृष्टि से भी यह बहुत घातक हथियार है अस्त्र है विश्वकर्मा जी ने स्वयं बनाया इस संसार में तो हम लोग देखते हैं बहुत से अस्त्र शस्त्र बनते हैं लेकिन सब यहाँ के आदमी बनाते हैं लेकिन ये देवताओं के शिल्पी सबसे बड़े कारीगर तो एक तो कर्ता की दृष्टि से वह वज्र बहुत महान था दूसरे मुने हैं शक्ति भी उत्सिक्तो मुनि की शुक्ति भी मुनि की हड्डी उसमें लगी थी इसलिए वह बहुत कठोर था और भगवत तेजसा अन्वित और तीसरा तीसरी विशेषता उस अस्त्र की थी कि भगवान के तेज से वह युक्त था भगवत तेजसा अन्वित युक्त भगवान का तेज उस अस्त्र में था तो इस कारण से देवराज इंद्र उत्सिक्त परम उत्साह में थे वही इंद्र तथा देवता जो वृत्रासुर के भय से रो रहे थे भगवान की शरण लिए थे परंतु जब भगवान के निर्देशन के अनुसार वज्र बन गया तो देवराज इंद्र का उत्साह सौ गुना बढ़ गया हाथ में भी वज्र लिए और समस्त देवताओं के साथ हो लिए तथा ऐरावत हाथी पर सवार हुए गजेंद्र ऊपरी अशोभता गजेंद्र के ऊपर चढ़कर सुंदर लगने लगे शोभने लगे सुशोभित होने लगे ऐरावत को गजेंद्र कहते हैं <coughs> भगवान ने कहा है कि हाथियों में मैं गज ऐरावत हूं ऐरावत समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और जब असुरों में और देवताओं में बंटवारा हो रहा था धन का जो समुद्र से उत्पन्न होता था धन तो उस समय टर में इंद्र का आया था इस <coughs> समुद्र से जो कुछ भी उत्पन्न होता था दैत्य लोग कहते थे हम लेंगे तो पहले से ही ये प्लान बनाए थे कि जो कुछ भी उत्पन्न होगा हम लेंगे अमृत भी हम ही अकेले पी जाएंगे लेकिन भगवान वहां पर थे इसीलिए वे बीच बीच में कंप्रोमाइज कराते थे नहीं धैर्य रखे सबसे पहले विष निकला समुद्र से तो वो तो कोई नहीं लिया वो सब छोड़ छाड़ करके भाग गए <laughs> तो विष गया शिव जी के हिस्सा में एक कवि ने कहा है कि दुनिया कितनी स्वार्थी होती है जब प्वाइजन निकला समुद्र से समुद्र व्यापी विष तो सब देवता और दानव समुद्र मंथन करना छोड़कर भाग गए और जाकर शिव जी से विनय किए कि आप हमें बचाइए तो भगवान शिव विश्व व्यापक विष को हथेली पर कर कर पी गए तो जब विष उत्पन्न हुआ तो देवता जाकर के विनय किए कि हमें बचाइए तो शिव जी विष पी गए लेकिन जब अमृत उत्पन्न हुआ तो देवता लोग शिव जी को इनवाइट तक नहीं किए कि आइए इसमें से भी एक आध बूंद पी लीजिए <laughs> इतने लोग स्वार्थी होते याद करने चाहिए था ना कि शिव जी हमारी रक्षा किए हैं तो इस लाइन में उनको भी बैठा पहले उनको भोग लगा कर खाना चाहिए था लेकिन नहीं दिए फिर भी भगवान शिव आज तक कंप्लेन नहीं किए कि हमको ये लोग कुछ नहीं दिए उनको क्या अभाव है कि वो कहेगी अच्छा विष उत्पन्न हुआ तो कौन कौन वस्तु तो कैसे कैसे उत्पन्न हो रही थी श्रीमद भागवत में इसका वर्णन है जो भी उत्पन्न होता था तो ये कहते थे हम लेंगे असुरों का यह स्वभाव उच्च श्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने कहा बलि महाराज ने कहा इमाय लूंगा उसमें असुरों के लीडर वही थे वे तो ये भगवान के भक्त थे परंतु जाति की दृष्टि से देवताओं से उनकी लड़ाई थी <laughs> तो भगवान ने कहा इंद्र को संकेत किया ठीक है ले ले लेने दो क्योंकि इसके बाद दूसरा टर्म बहुत अच्छा आ रहा है <laughs> तो जब ऐरावत हाथी निकला तब भी असुरों ने कहा हम लेंगे भगवान ने कहा कि आखिर एक तरफ तो ये मथ रहे हैं ना इनका कुछ होता है कि नहीं बिल्कुल ले लेने दो ये तुम्हारी बारी नहीं है इंद्र की बारी तो इंद्रदेव ऐरावत हाथी लिए सबसे महान हाथी बल में सब तरह से तो उस गजेंद्र के ऊपर देवराज इंद्र बहुत सुंदर लग रहे थे और बड़े उत्साह से चले वृत्रासुर का वध करने के लिए वृत्रासुर है उस समय समग्र असुरों की सेना से युक्त था एक तो अपने आप में वो महाशक्तिशाली था परंतु उसके साथ जितने भी असुर सेनापति थे सब आ गए थे ऐसा वर्णन है भागवत में उनके नाम आएंगे आगे तो देवराजेंद्र के साथ समस्त देवता थे और मुनिगण देवराज इंद्र की स्तुति कर रहे थे बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि धन्य है आप इस विश्व का पालन करते हैं और आप अपनी भक्ति से भगवान को भी प्रसन्न कर लिए और भगवान के निर्देशन से आपको वज्र मिला है निश्चित आप विजयी होंगे वे लोग आशीर्वाद दे रहे थे मुनि लोग इंद्र को गुण गा रहे थे तो समस्त देवताओं के साथ इंद्र चले हैं वृत्रासुर से लड़ने के लिए जबकि वृत्रासुर अन्य सारे अस्त्र शस्त्रों को खा गया था जितना भी अस्त्र शस्त्र बनाए नया बना था देवताओं की ओर से तो चले तो ऐसा लग रहा था जैसे त्रिलोक्यम हर्षयन निवा तीनों लोगों को हर्षित करते हुए से युवा शब्द का यह अर्थ है कि हर्षित नहीं कर पाए अभी हर्षित तो तब तीनों जगत होगा जब वृत्रासुर का वध होगा लेकिन आशा हो गई तीनों लोगों के जीवों को कि वृत्रासुर मारा जाएगा जो लोग हर्षित से हो रहे थे हर्षेन इवा लगता था कि सब लोग प्रसन्न हैं पर वास्तविक प्रसन्नता वृत्रासुर की हत्या के बाद होगी सारे जगत के लोग वृत्रासुर से तंग आ गए थे इतना वो उत्पातित किसी को भी पकड़कर खा जाता था सीधा कहा जाता था तो इंद्र बहुत वेग से चले वृत्रम अभ्यद्रव छत्रु असुरानीक पर पर्यस्तम ओजसा राजन क्रुद्धो रुद्रैवांतकम हे महाराज परीक्षित वृत्रासुर असुरानिक पही असुर सेनापतियों के झुंड में था एक से एक महान और शक्तिशाली असुर थे और वे सब अपनी सेना के साथ थे और उन सब के बीच में वृत्रासुर था परंतु इंद्रदेव को भय नहीं लग रहा था क्योंकि अकेले वृत्रासुर ने सबको परास्त कर दिया था हाहाकार करके भागे थे लेकिन आज भगवान की कृपा से इंद्र देवता उस वृत्रासुर के पास जाने में भय नहीं कर रहे थे जो समग्र असुर सेनानायकों के साथ था यह है भगवान की कृपा बुरी तरह से हारे हुए लोग आज उसी प्रतिद्वंदी से लड़ने जा रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं क्रुद्धो रुद्र इवांतकम जैसे ऐसा लगता था क्रुद्ध भगवान शिव जमराज को मारने के लिए चले हैं एक बार जमराज को मारने के लिए भगवान शिव चले थे यह उपमा दे रहे हैं ऐसी कथा है कि मारकंडे नाम का बच्चा हुआ मृकंड ऋषि का तो नारद जी ने उसका हाथ देखा और कहा कि यह 20 वर्ष की उम्र में मर जाएगा तो उसके पिता मृकंड जी बहुत चिंता में पड़े उन्होंने नारद ऋषि से कहा कि कोई उपाय बताइए जिससे हमारा बच्चा असमय में न मर सके अकाल मृत्यु न हो इसकी नारद जी ने कहा कि इसको महामृत्युंजय स्तोत्र का जप करना चाहिए तो पिताजी पढ़ा दिए उसको महामृत्युंजय स्तोत्र जो भगवान शिव का स्तोत्र है तो जपता था शिव जी के मंदिर में और खास करके जब बीसवा वर्ष आया तो और तत्परता से भगवान शिव के सामने वो मंत्र बोलता था तो वह समय आया जब उसकी मृत्यु का था तो जमराज जी स्वयं ही भैंसा पर चढ़ करके आए मारने के लिए उस लड़के को तो जमराज जी को देखते ही मारकंडे भगवान शिव के लिंग को पकड़ करके और त्राहीनाथ त्राहीनाथ करने लगा तो भगवान शिव प्रकट हो गए मूर्ति से और प्रकट हो करके त्रिशूल लेकर जमराज को मारने के लिए बड़े वेग से चले थे बहुत तेज गति से चले थे तो जमराज जी चले भाग उल्टे पाव भाग चले कहां से मारे मरकंडे को भाग गए बहुत तेज भागे थे और भगवान शिव बहुत तेज उनको खदेड़े थे उसी से उपमा दे रहे हैं कि जितना तेज गति से रुद्र चले थे अंतक को जमराज को मारने के लिए उस तरह से भगवान इंद्र बड़े वेग से चल रहे थे चलो चलो चलो तो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा था कि वृत्रासुर मारा जाएगा तो पूरा विश्वास था कि वृत्रासुर मारा जाएगा इसलिए भय नहीं था इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी का ये उदाहरण उचित लग रहा है ततः सुराणाम असुर ही रण परम दारुण त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे जुगे उस समय देवताओं का असुरों के साथ महाभयानक युद्ध हुआ इस विश्व में कभी कभी बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं तो उसमें वृत्रासुर के साथ इंद्र का जो युद्ध है वह भी बहुत बड़ा युद्ध माना गया है जैसे मनुष्यों का युद्ध हुआ था ऐसे लगभग पांच हजार वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में उसके बाद मनुष्यों में वैसा युद्ध नहीं हुआ महाभारत नाम का युद्ध और एक बार समुद्र में से अमृत निकालने पर अमृत पीने के बाद दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हुआ था वो भी देवासुर संग्राम कहा जाता है और यह युद्ध भी अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखता है वृत्रासुर और देवराज इंद्र का युद्ध और दोनों पार्टी में इधर सारे देवता इधर सारे दैत्य जुटे हुए थे इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परम दारुण रण बहुत दारुण बहुत भयावह युद्ध हुआ कब हुआ कहां हुआ त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे युगे शंभु मनवंतर के प्रथम चतुर्युग में सतयुग का अंत हो गया था त्रेता प्रारंभ हो रहा था उसी समय युद्ध हुआ था नर्मदा जी के किनारे हुआ था यह नर्मदा नदी स्वर्ग में भी है ये जो नर्मदा जी हैं जो <clears throat> मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात होते हुए समुद्र से मिलती यह इस तट पर युद्ध नहीं हुआ था स्वर्ग में जो नर्मदा जी हैं उनके तट पर यह युद्ध हुआ था और त्रेता युग के प्रारंभ में प्रश्न होगा कौन त्रेता तो स्वयंभू मनवंतर के प्रथम चतुर्युग में जो त्रेता पड़ता है उसमें युद्ध हुआ था देवताओं के पक्ष से कौन कौन लोग हैं झुंड का नाम बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी रुद्रैर वसुभिरादित्रैर अश्विभ्याम पितृवहनि भी मरुद्भिरीभिर्षाध्यैर विश्व देवैर्मरुत्पति रुद्र ग्यारह रुद्र आए थे इंद्र के तरफ से मतलब साक्षात भगवान शिव अपने को शिव जी ग्यारह रूपों में एक्सपैंड किए हैं इनको एकादश रुद्र कहते हैं तो विश्व का प्रलय करने वाले हैं तो ये सारे देवता आए थे रुद्र वसु भी और आठों वसु और उनके और सब लोग आए थे परिवार आदित्य ही माता अदिति के जितने पुत्र थे सब इंद्र का साथ दे रहे थे क्योंकि इंद्र बड़े भाई हैं अदिति के और उनके फिर पौत्र आदि सब उसमें भाग लिए थे अश्विभ्याम दोनों अश्विनी कुमार भी इंद्र के साथ थे बहन भी पितर देवता अग्नि देवता अग्नि भी कई हैं पितर भी कई हैं मरुद भी उनचास मरुदगण रिभु भी और रिभु नाम के देवता जिनको भृगुज ने उत्पन्न किया था साध्य देवता विश्व देवता और अन्य देवगण ये सब देवताओं की जातियां बता बताई जा रही एक एक में कोटि कोटि लोग थे बहुत बड़ी सेना थी देवताओं की उसको ले उसके साथ इंद्र को देखा वृत्रासुर ने वृत्रासुर किसी सवारी पर नहीं थे क्योंकि न तो रथ पर अट सकते थे न हाथी पर अट सकते थे इतना बड़ा शरीर था वृत्रासुर का उसके लिए कोई सवारी हो ही नहीं सकती थी <laughs> वो खड़ा युद्ध करते थे हाथ में त्रिशूल लेकर के जब खड़ा होते थे तो ऐसा लगता था कि काजल का पहाड़ खड़ा है बहुत काला शरीर भयावह तो कौन रथ ऐसा था कि इतना बड़ा रथ कौन बना सकता था जिस पर वो खड़ा हो सके बैठ सके अब मान लीजिए कोई पहाड़ को ही पूरा माउंटेन को किसी रथ पर रखना चाहे तो कैसे रखेगा या हाथी पर रख सके हाथी तो पैर देते ही पिछल कर मर जाएगा रावत पर भी पैर रख देते तो मर जाता तो उनके लिए सवारी कोई नहीं था पर इंद्रदेव हाथी पर सवार थे मृतरासुर पैदल थे लेकिन वो बहुत तेज चलते थे एक कदम में वो कई माइल जा सकता था मृतरासुर इतना बड़ा उसका पैर था चाहे शरीर सब इसलिए वो सवारी पर नहीं थे कि वृत्रासुर ने देख लिया इंद्र को कि बड़े वेग से इंद्र आ रहे हैं विशाल पलटन को लेकर के और देख लिए वृत्रासुर सुखदेव वर्णन कर देखे कि एकादश रुद्र हैं वसु हैं आदित्य अश्वी पितरी बहनी मरुद रिभु साध्य विश्वदेवा सभी देवता हैं और सबके साथ मरुत्पति सबके साथ इंद्र हैं वृत्रासुर ने ध्यान से देखा कि अपने तेज से देवराज इंद्र चमक रहे हैं पहले जो इनके भय से सामने से भाग गए थे लोग प्राण बचाने के लिए आज आ गए और बड़े उत्साह में है दृष्टा वज्र धर्म सक्रम और वृत्रासुर ने देखा कि देवराज इंद्र अपने हाथ में वज्र लिए वृत्रासुर को इस बात का पूरा पता था कि मेरे वध के लिए दधीची मुनि की अस्थियों से विश्वकर्मा ने अस्त्र बनाया है तो पहला जो अस्त्र था सब तो खा गए थे नया अस्त्र लेकर के देवराज इंद्र नया नया अस्त्र था चमक रहा था दधीची मुनि की तपस्या थी और देवराज इंद्र भी चमक रहे थे दृष्टवा वज्र धर्म सक्रम